तो विश्वमान्यम अपघ्नता मंत्र का भाव है हे परिश्रमशील लोगो कर्मठ लोगो इंद्रम वर्धनता यदि इसकी व्याख्या करें तो दुनिया भर की शक्ति सामर्थ्य संग्रहित हो जाएंगे इंद्र नाम धन का संपत्ति का बल का आनंद का विद्या का सबका ग्रहण हो जाएगा इंद्र नाम ईश्वर का इंद्र नाम जीवात्मा का सब भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान संपत्ति बल आदि ऐश्वर्य इंद्रम बढ़ती ऐश्वर्य को बढ़ाओ वेद विद्या को बढ़ाओ धर्म को शक्ति को बढ़ाओ और तो विश्व आर्यम की देश श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव से जो व्यक्ति है उसको आर्य कहते हैं तो तो विश्व आर्यम विश्व को आर्य बना दो इससे एक बात स्वतः सिद्ध होती है किसी को कहे कि इसको आचार्य बना दो इसको इंजीनियर बना दो इसको प्रोफेसर बना दो इसका क्या अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो स्वयं जब तक वो विद्वान नहीं ऊंची विद्या नहीं विज्ञान उसने पढ़ा नहीं वो किसी को प्रोफेसर आचार्य नहीं बना पाता तो किरणवंतो विश्व आर्यम स्वयं पहले आर्य बनो और फिर कार्य बनो तीसरी बात है अपघनता रावण है जितनी बुराइयां हैं बुरे विचार हैं प्रवृत्तियां हैं अन्याय और अजी अन्यायकारी अपगनंत है उनको उखाड़ के देखें कुछ समझ में आ गया या नहीं आया जी नहीं आया समझ तो संकल्प लेके चलो पूरे विश्व को आर्य बनाना और पूरे विश्व को आर्य बनाने का संकल्प करते ही है गया मुझे पहले आर्य बनना है सत्यवादी सत्यमानी पक्षपात रहित संयमी विद्वान वेद को मानने वाला धर्म धर्म को मानने वाला न्याय व्यवस्था को मानने वाला सबको आत्मवत देखने वाला आर्य होता है एक हमारे भजनोपदेश रोचक कथा सुनाया करते थे बीच में सुना देता हूं वो क्या सुनाते थे कि भाई एक बुढ़िया की कल्पना भी कर लेते हैं कई बार तो बुढ़िया ने सुना दूर दूर से आर्य समाज में बेचारी गई नहीं लोगों ने कहा आज आर्य समाज इतने खराब होते हैं इतने बुरे होते हैं ऊट पटांग होते हैं ये मार देते हैं जगडालू पता नहीं क्या क्या होते बुढ़िया ने तो ऐसा सुना था तो फिर वो बुढ़िया उसने और देश सुना जो सुन भाई आप कौन है देश देने वाले की हम तो आर्य है तो बुढ़िया कहने की मैं तो समझती थी आर्य नहीं होता पता नहीं क्या होता है आप तो बहुत अच्छे हो मैंने सोचा आर्य पता नहीं क्या होता है क्या होता होगा आप तो बहुत अच्छे लोग हैं तो यहां तो आर्यों की ये कल्पना और ये विदेशी लोग उल्ट पटांग आर्यों को उल्टे मार्ग पर चलाने वाले उल्टा साहित्य लिखने वाले ऋषियों का खंडन करने वाले नास्तिकता फैलाने वाले अपनी भाषा को हमारे सिर पर रखने वाले ये कहते हैं आर्यों का नाक लंबा लंबा जो तोते की तरह हो वो आर्य है

का क्या संदेश है जो व्यक्ति कारण और कार्य की उपासना करते हैं वे अज्ञान अधर्म आदि विविध क्लेशों को प्राप्त अंधन तम प्रविशंती ये असंभूति उपास तथो भूय इवते तम ये ऊसम वेद का संदेश है जो व्यक्ति कारण की उपासना करते हैं वे और जो कार्य सुंदर सुंदर चीजों में चिपते रहते हैं वे अज्ञान अधम विविध कलेशों को प्राप्त यदि आज विश्व में देखा जाए तो याद रखिए वैज्ञानिक लोग मुख्य रूपेण कारण की उपासना करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है इसी जगत बना है फिर आगे ठीक है से बना अब वैज्ञानिकों से पूछा अब बताओ ये तीन थे अब क्या किया आपने उनका हमने तीनों को तोड़ डाला आगे बढ़े बस पुरुषार्थ ही आप देखे नहीं है घूमते रहो बैठे रहो पुरुषार्थ का गुण है उनका निषेध कहीं नहीं है पर उनका दोष की बात है यहां तो तो वो कहते प्रोटन न्यूट्रन को आज तोड़ डाला वैज्ञानिकों ने तोड़ छोड़ के आगे बढ़ गए हमने कहा क्या हुआ उसके टुकड़े हो गए फिर उनका नाम और क्या रखा प्रोटन तो नहीं रहा क्योंकि उसका नाम रखा क्वार्क क्या तो मैंने कहा फिर ये शक्ति किससे बनती है क्वार्क से बनती है मैंने कहा अच्छा वो क्वार्क स्वयं में आगे मिल जाते आंख नाक कान बन जाते कोई मिलाता है वो कहते हमें तो ये पता नहीं क्या होता बनती हुई हमने कहा हमारा उत्तर सुन लो वैदिकों का उत्तर सुनो ये वर्क नाम रखिए कुछ भी रखिए हम उसको सत्वर कम कहेंगे उसको विधि गुरु परमात्मा बनाता है आंख नाक कान लोग लोकांतर बनते हैं नहीं बनते हमसे सीखो ये बात भाई यही के दिमाग में नहीं बैठती ये काल की उपासना करते रहते प्रोटोन की उपासना न्यूट्रॉन की ध्रुआर्थों की उपासना उनको ये मानते ही इनके जान मानने के पीछे हम कृत करते हो जाएंगे यही उपासना है और आगे जानने की आवश्यकता नहीं हम इनसे कृत कृत्य हो जाएंगे यही सब कुछ है आगे पीछे मत सोचो यह है कार्य की उपासना आप अंगूर खाते हो आज हलवा भी खाया होगा आप इसकी उपासना करते हो आपकी कम नहीं ऋषियों ने कहा सोना चांदी विविध दमक दमक की चीजें खाने पीने में लगा रहता व्यक्ति बकरी की तरह खाता रहता है बकरी जानते हो कैसे खाती है हमने बकरी भी चराई भैंस भी चराई और गऊ भी चराई आप किस तरह नहीं चराते हम घास ज्यादा दूध निकाली वैज्ञानिक ढंग से बकरी चराई तो बकरी को इतनी दूर से सीधी मारी वो भोया आई खोटपूर्ण बकरी चराई क्या समझते आप नहीं आई बात समझ आज की थोड़ी वो पचास वर्ष हो गए उसकी पता नहीं कितनी होगी उस समय की बात है फिर हमने सोचा इस गऊ को भी तो सिखाना चाहिए गऊ को सिखाया तो इसी प्रकार से मुंह से सीटी मारी वो गऊ इतनी दूर से दो फरलांग लगभग हमारी सीटी वहां से आई आप की तरह गऊ को घास ज्यादा दूर निकाला सो गए सुअर की तरह ऐसा थोड़ा ही वैज्ञानिक ढंग से किसी चीज को देखो जथा दूर समय से विज्ञान निकालो तो ध्यान दो वो वैज्ञानिक जो है ईश्वर को नहीं मानते अज्ञान अंधकार को प्राप्त करते याद रखना और जो सोना चांदी की उपासना करते रहते दिन रात खाने पीने में लगे रहते वो संभूति है संभूति की जो उपासना करते वो भी इसी प्रकार के अज्ञान अंधकार को प्राप्त करते परंतु वेद इस बात का निषेध नहीं करता कि वैज्ञानिक न बनो प्रकृति की खोज न करो निश्चित है वेद इस बात का निषेध नहीं करता धनवान न बनो संपत्तिशाली नहीं बनो में श्याम है रही नाम हाँ ऐश्वर्य के स्वामी हो परंतु वो इतना कहता है कि तुम्हें धन की उपासना मत करो ऐश्वर्य की उपासना मत करो विज्ञान की उपासना मत करो उसे काम लो इसी प्रकरण में ये मंत्र मिलेंगे ये अच्छी तरह से बताया गया था यह प्रकरण चालीस में जाएगा संभूति का विनाशन च यदवेदो उभय विनाशे मृत्यु संभूत्या अमृतम सूते इसका उसको उद्घाटन किया अच्छी तरह खोला संभूति ये और विनाश प्रकृति जो दोनों को साथ साथ जानता है संभूति में से कौन सी विभक्ति है संभूति में से द्वितीय विनाश में से कौन सी विभक्ति है क्या होगा संभूति को और साथ साथ जो जानता है यहां तक पहुंचे ने मृत्यु में विनाशे ने कौन सी विभक्ति है विनाशे ने मृत्यु में तृतीया भौतिक विज्ञान से मृत्यु को तैयार करके आई बात तो नहीं आई अलवा तीर से मोक्ष को प्राप्त करता है अब बताओ क्या समझिए संभूति का मतलब भोजन बस कर खाने की चीज ये संभूति है इसको खाता और अपने दंड बैठे के मारता और स्वस्थ रहता समाधि लगाता और मोक्ष को प्राप्त करता है ये इसका विधान वेद रेखा जी ये है अब सुनो नीचे वालों की बात घन तम परिवेशन के नीचे क्या लिखा है लिखा है किशोर क्या लिखा है प्रेम मार्ग में क्या पाठ हाँ अपने ज्ञानी एवं पंडित समझते हुए ठोकरे खाते हुए इधर उधर भटकते जैसे अंधे के द्वारा ले जाए जाए अंधे ठोकरे खाते ऐसे ही लोग सारे वैज्ञानिक आगे भोगवादी आ गए इनकी अवस्था ही हम कहेंगे वैज्ञानिक लोगों ईश्वर के विषय में सुनोगे ऐसी स्थिति उनसे करो कोई सुनने के लिए कोई आवश्यकता नहीं लेकिन ये कहां से आ गया जंगली व्यक्ति जो ईश्वर की बात करता है अविद्यायामन्तरे वर्तमाना पण्डितमन्यमाना सन्दर्म्यमाना पर्यन्ति मूढा अन्धे नीयमाना यथा अन्धा आ समझ में हम देख चीजें विजय ले ले जाए जा रहे हो तीन की बहुत भौतिक वैज्ञानिकों की और भोगवादी की किसी व्यक्ति ने कहा वो कहां खड़ा था कहां बताएं वो खड़ा था दिल्ली और दिल्ली से एक व्यक्ति को पकड़े ले जा रहा है रोहतक की ओर रोहतक दिल्ली से किशोर है पश्चिम में है ना जी वो पकड़े ले जा रहा है अंदाजे उसको जिंदगी कहां ले जा रहे हो जी मैं इसको लाल किला दिखाऊंगा दिल्ली तो कहते दिल्ली का लाल किला ईश्वर सिंह ने बताया है बादरगढ़ की से के और दूसरे अंदर ने बताया था वो जो पीछे उनका भाई आपको किसी ने बताया उनका तीसरे अंधे ने बताया था उनका कहा आपको किसी ने बताया रोते की और यहाँ से वो लाल किला ये अंधे ने बताया था अंधे के पीछे से अंधा चला जा रहा हो ये भौतिक वैज्ञानिक की और भोगबाजी की बिल्कुल है भेड़ के पीछे भेड़ ये भेड़ चाल कहलाती है भेड़ का मैं अध्ययन करता हूं आपकी तरह कंबल ही कंबल नहीं ओढ़ता अध्ययन बहुत करता हूं कंबल उठा डर की पहले ये किया वो किया कुछ मुझ हो गया भेड़ का पता नहीं खा रहे थे अमरीका की घटना है मुझे पता नहीं किसी ने सुनाई कि गहरे कुएं में पानी का बेचारी काफी भेड़ थी वो चली गई रेवड़ का रेवड़ पीने के लिए वो नीचे देखी पानी का धड़ाम थी दूसरी तीसरी चौथी पूरा रेवड़ का रेवड़ उठ गया तीसरी भेड़ में गिरी जागरी डूब गई पर भेड़ का नहीं भौतिक वैज्ञानिकों की भोपाल भेड़ का समझिए एक दिन में बस मारा जा रहा आंध्र प्रदेश में प्रचार कार्य के लिए गया तीव्र गति से बस चले गई और ईश्वर भाई और से भेद दूर बस हमारी दूर थी वो तो निकल गई और दूसरी ऐसे निकलने के भेद का ये जीवन का ये मूल कब होने करके जो भेड़ चाल होती है बात तो मैं देख ही रहा था देर कर रहा था पहली भेड़ तो निकल गई पहले बस के आने की बड़ी तीव्र गति से बस चली और दूसरी जो भेड़ थी ना उसके पीछे वाली वो तैयारी में थी उनका ये वो मूर्खता नहीं कर दी बस के नीचे आगे लड़की जाए धीरे धीरे ऐसा हुआ हुआ ठीक बस के नीचे गुब्बारा सा फूट गया सारा घास बात लगभग ये है आप यदि भौतिक वैज्ञानिक के पीछे चलोगे और भोगवाजी में भेड़ की तरह गुब्बारा सा पूछे आधी बात समझ में बचोगे बिल्कुल नहीं इनकी वैज्ञानिक विज्ञान की बात मानो हमें कोई आपत्ति नहीं महान है पुरुषार्थ ही है सत्य के ग्रहण करने वाले सत्य के छोड़ने उनके बुद्ध करोड़ पर उनकी गलत बात नहीं मानेगा ठीक है तो वैज्ञानिक बात यह है कि इस प्राकृतिक जगत भौतिक विज्ञान के पदार्थों की खोज करो अपने लिए दूसरे के लिए उपयोग भी करो पर इनकी उपासना में बहुत बड़ी भयंकर भूल में करता है व्यक्ति ईश्वर को धकेल देता है पीछे और इनकी उपासना में लग जाता है मोटी भाषा में बोलना चाहता हूं इनसे अति प्यार करना अति प्रेम करना इकट्ठे करते रहना मानसिक होते रहना ये करना वो करना दुनिया भर के जग में लगा रहा दो समय ईश्वर की उपासना के समय ने निकालना ये इनकी उपासना एक बूढ़िया माँ थी भोजन के लिए आज आर्य समाज में आया करो माता जी वो कहने की स्वामी जी समय नहीं मिलता क्या बात है एक बेटा वहां चला गया एक बेटा वहां चला गया एक बेटा वहां चला गया ये लंबी चौड़ी कोठी यहां से छुट्टी करने लगती हूँ सायकाल तक छुट्टी कर पाते हो दूसरे दिन से छुट्टी करना जरूरत है अब ये बताओ ये सूअर की तरह सूर्य चिट्ठी साफ करता है या घर को साफ करती है अंतर क्या करना क्या ये भी कोई बात नहीं सारे दिन घर को करते लिखते रहो सोचते रहो और किसी ने हमको सिर्फ को दिया उसे याद ही नहीं करना कृत घन व्यक्ति महादुष्ट व्यक्ति बन जाता ये सारी चोरी डाके जो लग रही है इसीलिए हुए हैं कि ईश्वर को छोड़ दिया लोग जितनी भी चरित्रहीनता आई है राजनीति गई है और सारा जो आचारहीनता का वातावरण बनाया गया ईश्वर को छोड़ने से देश के छोड़ने से ईश्वर की उपासना नहीं करने आया है ईश्वर को न मानने वाला ईश्वर को न जानने वाला ईश्वर की उपासना न करने वाला कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति कभी नहीं बनता आगे याद अब ग्राम की ओर चलते क्या करेंगे अब ईश्वर की उपासना करो मनुष्य पर क्या करोगे कभी दुख है कभी सुख है किसी का नाम जीवन कभी दुख है कभी सुख है किसी का नाम आगे पीछे नहीं निकलो ये सारी गड़बड़ कब तक रहेगी डंडा नहीं लगेगा चल पर सुधार तो हुआ है इतनी गड़बड़ मत करो जो दुख बुला दिया ना मुझे हाँ जो दुखों में मैं घबराए उसे इंसान

है तुम्हारे जी है ये गलती रुलाती है तुम्हारे जी साथी है मनुष्य गलती का पुतला है ये अक्षर जाती है मन से गलती का पुतला है वो अक्षर को जाती है जो करके पछताए उसे इंसान कहते हैं उसे यूं भरने को तो दुनिया में पशु से भरते हैं यूं भरने को तो दुनिया में पशु से भरते हैं पशु जो पाँच कर खाए पूछे मैं कान कैसे मैं पूछे मैं कान कैसे पट दो देकर खाए पूछे मैं कान कैसे मैं पूछे मैं कान तो मानव बनाने वाली योग काल्पनिक जुटते जुटते विज्ञान की खोज होते होते विज्ञान का उत्कर्ष होते होते सब वैज्ञानिकों की तरह हो सकता है परंतु जब तक इस योग विद्या को ग्रह विद्या को व्यक्ति के जीवन के साथ नहीं जोड़ा जाता मनुष्य मनुष्य ने बना न आज है न आगे वैज्ञानिक लोग माने नहीं माना आगे करके मान सकते हैं अंत तो गत्वा ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी मनुष्य निर्माण मानव जीवन का क्रम लक्ष्य जिसे सिद्ध हो वो केवल योग विद्या ब्रह्म विद्या से ही बनता है और कोई भी मार्ग इसका नहीं है यद्यपि आज हम इन बातों को जानने मानने वाले बहुत थोड़े लोग हैं यदि हम पुरुषार्थ करते हैं परिश्रम करते हैं विद्वानों को तैयार करते हैं ऐसे विद्यालय चलाते हैं करोड़ों रुपए की संपत्ति जुड़ा देते हैं तो संभावना है कि कालांतर में हम ब्रह्म तैयार कर दें योगी अच्छे योगी वैदिक विद्वान हम तैयार कर दें और विश्व को वो मार्ग दिखाने में सफल हो जाए ये संभावना है यदि हम ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते जीवन नहीं जोड़ते आहुति नहीं देते ऐसे विद्यालय नहीं चलाते अंगुकांग नहीं पढ़ाते योगी नहीं बनते बनाते तो ये विद्या पुष्पों में रह सकती है धरती को उतरनी संभव नहीं इसके लिए जोर लगाओ और कृत करते हो जाओ अब विराम सभी छूट जाओ उसी दीपते मन का दीपक जला